जो बड़े बने हुए थे उनसे कहेंगे जिन्हें कमजोर समझा गया था कि क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी असल बात यह है कि तुम खुद मुजरिम थे